श्लोक पढ़ेंगे श्लोक संख्या चौदह प्रते ब्रवीमी तदु मे निबोध स्वर्गम अग्नि नचिकेत प्रजानन अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठा विद्धि तमेतम निहित गुहायाम कहते हैं प्रति ब्रवीमी तदो ये निबोध दूसरा वर नचिकेता ने मांगा और उस वर में कहा कि स्वर्गम अग्निम स्वर्ग को दिलाने वाला जो अग्नि है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं स्वर्ग कामो यजीत कि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तब तो वह जो यज्ञ हैं उसे ही यहाँ पर अग्नि के नाम से कहा हुआ है और उस अग्नि से स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार से होती है उसके बारे में बहुत विस्तार से तो वर्णन यहाँ पे नहीं है क्योंकि इसका जो मुख्य विषय है वह ब्रह्म विद्या है आध्यात्म विद्या है इसलिए उस विषय को यहाँ विस्तार से नहीं लिया हुआ है हमारे वैदिक जो शास्त्र हैं उसमें यज्ञ का जो विषय है वह ब्राह्मण ग्रंथ नाम के कुछ ऋषिकृत ग्रंथ हैं शतपथ ब्राह्मण हैं गोपद ब्राह्मण हैं कुल मिलाकर चार ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उनमें यज्ञ का बड़ा विस्तार के साथ में विवरण दिया हुआ है संक्षेप में समझ सकते हैं कि यज्ञ अपने आप में बहुत विस्तृत विषय है यज्ञ के दो विभाग हम कर सकते हैं एक वो है जो हम दैनिक करते हैं और दूसरे वो होते हैं जो विशेष अवसरों पर किए जाते हैं तीन इसके हम विभाग कर सकते हैं एक नित्य दूसरा नैमित्तिक और तीसरा काम्य नित्य यानी जो रोज करने का है नैमित्तिक जो विशेष निमित्त उपस्थित होने पर किया जाता है दैनिक यज्ञ का स्वरूप उसको हम अग्निहोत्र कहते हैं ऋषिदानंद ने जो विधान दिया है वह यज्ञ हमने उसका नाम दैनिक यज्ञ कर दिया उसका शास्त्रीय नाम जो है वो अग्निहोत्र है हर समाज में उसके दो विभाग कर दिए गए हैं एक दैनिक यज्ञ और एक साप्ताहिक यज्ञ ऋषिदानंद ने ऐसे किन्हीं शब्दों का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया है आर्य समाज में एक परंपरा से चल पड़ा है और साप्ताहिक यज्ञ जैसे किसी यज्ञ का विधान ऋषिदानंद ने कहीं नहीं किया हुआ है कहीं आपको कहीं ये शब्द नहीं मिलेगा साप्ताहिक यज्ञ वो एक परंपरा चल पड़ी है कि ये दैनिक है ये पूर्ण है ऐसे पूर्ण यज्ञ साप्ताहिक यज्ञ ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको ऋषि दयानंद के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा वो एक नई और आधुनिक परंपरा आर्य समाज में कहाँ से विकसित हुई है पता नहीं लेकिन ये ऋषिकृत चीज़ें नहीं हैं न ऋषि दयानंद के द्वारा है और न पूर्व ऋषियों के द्वारा है जिस यज्ञ को साप्ताहिक यज्ञ के नाम से किया जाता है संस्कार विधि में उसे विशेष संस्कारों के अवसर पर ही करने का विधान है अलग से जो एक साप्ताहिक यज्ञ के मंत्र होते हैं उसको लेके यज्ञ करना ऐसा कहीं नहीं है केवल वो संस्कारों के अवसर पर ही है किन्हीं विशेष संस्कारों के अवसर पर है तो दैनिक अग्निहोत्र के मंत्र ही ऋषि ने दिए हैं अलग से विधान किए हैं दो प्रकार से यज्ञ की परंपरा होती है एक को कहा जाता है श्रौद और दूसरे को कहा जाता है स्मार्त शौत माने होता है जो सीधा वेदों के आधार पर होता है जिसमें केवल मात्र वेद को लेकर के विधि होती है दूसरा होता है जहाँ वेद को लेकर के भी होता है और कुछ ऋषिकृत अपनी तरफ से भी ऐसे मंत्र या श्लोक का विनियोग होता है उस्मार्थ कहलाता है तो ऋषिदानंद का जो एक अग्निहोत्र पद्धति है वो स्मार्ट पद्धति है जिसमें वेद के भी मंत्र हैं कुछ अन्य शास्त्रों के भी हैं चूँकि श्रौत विधि थोड़ी कठिन होती है और जहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है वहाँ कुछ तो होना चाहिए इस दृष्टिकोण से उस विधि को सरल कर दिया गया और उसका प्रचार हो अधिक से अधिक इस दृष्टिकोण से उसको पर्यावरण शुद्धि के साथ में भी जोड़ दिया गया वास्तव में शास्त्रों में हम देखेंगे तो यज्ञ का कोई उद्देश्य पर्यावरण शुद्धि नहीं होता है न वो यज्ञ का फल होता है वो यज्ञ करने का एक परिणाम होता है कि उससे पर्यावरण की शुद्धि होती है लेकिन यज्ञ का फल तो एक ही होता है स्वर्ग इसलिए यहाँ पर कहा कि स्वर्गम अग्निम यज्ञ करेंगे तो उसका फल तो स्वर्ग ही होने वाला है और उसी फल को सम्मुख रख करके वो यज्ञ किया जाएगा तो वह एक अग्निहोत्र है जो रोज किया जाना चाहिए वो एक आवश्यक कर्तव्य है नित्य कर्तव्य है समय समय के अनुरूप उसके स्वरूप में परिवर्तन आता रहता है कर्मकांड कोई हमेशा निश्चित नहीं होता है कि ऐसा ही किया जाएगा समय के अनुरूप या जिस प्रकार के ऋषि लोग विधान कर देते हैं समय समा समाज को देखकर उसके अनुरूप उसमें परिवर्तन आते रहते हैं आज जो अग्निहोत्र का स्वरूप हमारे पास है वो कोई अनादि और अनंत नहीं है पहले कुछ और रहा होगा और दूसरे ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ और स्वरूप मिलता है तो जो भी स्वरूप ऋषियों ने निर्धारित किया वैसा करना चाहिए लेकिन आज जो स्वरूप है वो किसी ऋषि का निर्धारित नहीं है वो तो विकृत रूप है अपनी तरफ से बना दिया गया है तो ऋषिकृत स्वरूप को तो जानना चाहिए और उसके अनुरूप करना चाहिए तो वो कर्मकांड का एक जो भाग है उसमें तीन भाग मैंने बताए एक दैनिक नित्य करने का है वह अग्निहोत्र है दूसरा नैमित्तिक है विशेष अवसरों पर किए जाते हैं पौर्णमासी है अमावस्या है उसमें भी पहले के कुछ और विधान थे चूँकि उसमें समय काफ़ी लगता है श्रद्धा होनी चाहिए बहुत तब जाकर वैसी व्यवस्थाएं व्यक्ति कर पाएगा एक घर में अलग प्रकार की यज्ञशाला होनी चाहिए अब उतना सब न तो व्यक्ति की श्रद्धा उन कार्यों में है और न उतना समय है इसलिए ऋषि ने उसका भी स्वरूप सरल किया और पौर्णमास और अमावस के तीन तीन आहुतियों का विधान किया दैनिक यज्ञ के साथ में उसका विनियोग कर दिया तो वो नैमित्तिक यज्ञ हो गए इसके अलावा कुछ काम्य यज्ञ होते हैं यानी किसी कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं विशेष कामनाएं होती हैं जैसे पुत्रेष्ट यज्ञ हैं तो संतान प्राप्ति के लिए वो किए जाते हैं इसलिए उसको काम यज्ञ बोलते हैं ऐसे कई प्रकार के हैं अश्वमेध यज्ञ हैं राष्ट्र की प्राप्ति की कामना से किया जा रहा है क्योंकि अश्व माने राष्ट्र होता है तो वह बहुत प्रकार है उसके उसको काम में कहते हैं जब वो विशेष प्रयोजन होता है तब वो किया जाएगा सोमयाग हैं तो ऐसे ही तीन विभाग हैं उसके और इन तीन विभागों में जो विशेष प्रकार का है सोमयाग आदि वो बड़े बड़े होते हैं काफ़ी दिनों तक चलने वाले होते हैं यज्ञ जिसको हम कहते हैं उसके ये दो विभाग हैं एक सीमित समय तक चलने वाले हैं एक दीर्घ काल चलने वाले हैं तो ये उसके बहुत सारे विभाग हैं और वो सारे विभागों को यज्ञ के स्वरूपों को जानना उसके अनुरूप वो सब चीज़ें करते रहना वो सारा स्वर्ग को दिलाने वाला है स्वर्ग कामो यजेत का मतलब बहुत संक्षिप्त नहीं है बहुत विस्तृत है वो तो कोई भी यज्ञ किया जाए चाहे वो दैनिक अग्निहोत्र करें चाहे विशेष अवसरों पर करें चाहे कामनाओं की पूर्ति के लिए करें उस सभी यज्ञों के दो विभाग हैं एक कर्म कांड है यानी मंत्र को बोलना विशेष रीति से आहुतियाँ देना वो एक भाग है दूसरा भाग उसके अनुकूल आचरण का है तो आचरण के भाग को हटा करके केवल मात्र कर्म कांड को करना उससे कोई विशेष स्वर्ग की प्राप्ति करने का विधान भी या होने का विधान नहीं है केवल मात्र दस मिनट व्यक्ति ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा इतना करने मात्र से कोई स्वर्ग नहीं मिलने वाला है वो जो कर्मकांड है वो तो अपनी जगह है लेकिन वो जब तक उसके अनुकूल जीवन नहीं है जीवन में वो चीज़ें नहीं है उन सिद्धांतों का पालन नहीं है तब तक वो कुछ होने वाला नहीं है उसके परिणाम स्वरूप उसका फल वो जो कर्म कांड का है वो तो है लेकिन जिस स्वर्ग की यहाँ बात की जा रही है कि जहाँ भय नहीं है जहाँ रोग नहीं है जहाँ वृद्धावस्था नहीं है जहाँ भोग प्यास की चिंता नहीं है उस प्रकार के स्वर्ग के लिए वो आचरण भी वैसा होना चाहिए पांच महायज्ञों के विधान तो हम जानते ही हैं बड़ा सरल स्वरूप हमारे सामने यज्ञों का ऋषि दयानंद ने प्रस्तुत किया है और वो केवल मात्र अग्निहोत्र नहीं है जब स्वर काम यज्ञ बोलेंगे तो कम से कम पांच महायज्ञ तो है ही उसमें अग्निहोत्र है ब्रह्मयज्ञ है तो वो पांच महायज्ञ जिसको हम बोलते हैं पंचयज्ञ जिसको हम बोलते हैं वो चीज़ तो कम से कम होनी ही चाहिए स्वर्ग कामों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अतिथि यज्ञ भी होना चाहिए और ये देखिए ये जो पांचों यज्ञ है वो नित्य है दैनिक है वो बलि वैश्वदेव यज्ञ भी दैनिक होना चाहिए पितृयज्ञ भी दैनिक होना चाहिए तो ये रोज की रोज चीज़ें होनी चाहिए यानी विद्या की प्राप्ति रोज होनी चाहिए अन्य प्राणियों पर उपकार रोज होना चाहिए तो जब वो चीज़ें पांचों कम से कम हम लेकर के चलें वो चीज़ें व्यवहार में होगी आचरण में होगी तब वो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकेगी और जो अन्य यज्ञ के स्वरूप है वो अपनी जगह है ही तो वो सारा यज्ञों का जो विषय है वो बहुत विस्तृत है बहुत विस्तार है और वो सारा कुछ यहाँ पर उपदेश किया गया है इसलिए स्वर्ग को दिलाने वाला जो अग्नि है अपने आप में वो छोटी सी बात लगती होगी लेकिन उसके विस्तार में जाएंगे तो वो बहुत व्यापक विषय है और उस सारे विषय का यहाँ पर उपदेश किया गया है उसी बात को यहाँ कहा कि प्रते ब्रवीमी तदु में निबोध कह रहे मैंने तुम्हारे को वो अग्नि का उपदेश किया है तुम उसको जानो स्वर्गम अग्निम नचिकेता प्रजानन अनंत लोकाप्तिम अतो प्रतिष्ठा विद्धि तम एतम निहितम गुहायाम कहा कि ये जो रहस्यमय अग्नि है इस अग्नि को जानने के बाद में जो तुम्हारी इच्छा है जिस प्रतिष्ठा को तुम पाना चाहते हो जिस बात को तुमने दूसरे वर्ग के अंदर मांगा उस अग्नि के विषय में मैंने तुमको सारा उपदेश कर दिया है अब तुम इस अग्नि के जानने वाले हो गए हो ऐसा कहकर उस बात को यहाँ पर संक्षिप्त में ही विराम दिया है उस दूसरे वर्ग का यहाँ पर उपसहार करते हैं कहते हैं लोकादिम अग्निम तमवाच तस्मय या इष्टका यावतिर्वा यथा सच अपि तत् प्रत्यवदत् यथोक्तम अथास्य मृत्यु पुनरव आह तुष्ट अब कहते हैं लोक को जो प्राप्त कराने वाली अग्नि है तस्मय तम उवाच यानी दो चीज़ें होती हैं लोक और परलोक परलोक यानी जो परे हैं दूर हैं मुक्ति को भी कह लेते हैं परलोक तो कहते हैं ऐसा जो लोक को दिलाने वाला जो अग्नि है कौन सा लोक स्वर्ग लोक कहते हैं तस्मय तम उवाच उस नचिकेता के लिए उस अग्नि का उपदेश कर दिया अब वहाँ पर क्या होता है जो बड़े याग होते हैं क्योंकि वो क्या है हमेशा चलने वाली क्रिया नहीं है विशेष अवसरों पर विशेष उद्देश्य के लिए वो चीज़ की जाती है जैसे रोज़ घर में भोजन करना हो तो एक नियत स्थान है एक निश्चित स्थान है उस स्थान पर वो रसोई घर है वो भोजनशाला है जो भी उसका नाम दें वहाँ रोज़ भोजन होता है लेकिन कोई विशेष अवसर हो कोई फंक्शन हो हज़ार दो हज़ार लोग खाने आने वाले हों फिर क्या करेंगे फिर किसी विशेष स्थान को लेंगे या कई खाली स्थान होगा उसका उस तिथि के लिए उसका निर्माण करवाएंगे वहाँ टेंट लगवाएंगे व्यवस्था करवाएंगे कोई एक विशेष स्थान का चयन करेंगे वो विशेष स्थान का चयन केवल मात्र उस कार्यक्रम के लिए ही होता है या कुछ बनाना पड़े उस आयोजन के लिए ही वो बनाया जाएगा उसके बाद वो कोई काम का नहीं है लेकिन जो रोज़ जहाँ भोजन किया जा रहा है वो तो चलता ही रहेगा वो तो हमेशा ही करना है तो ऐसे ही जो अग्निहोत्र होना है उसके लिए तो यज्ञशाला बनी हुई है वो तो रोज रहेगी लेकिन विशेष प्रयोजन के लिए जब यज्ञ होगा तो उसकी यज्ञशाला भी अलग प्रकार की होगी वो दैनिक अग्निहोत्र वाला उसमें वहां पर नहीं हो सकता वो तो उसके लिए फिर विधिवत उस यज्ञशाला का निर्माण करना होता है उसका निश्चित परिमाण होता है कौन सी क्रिया कहाँ पर होनी है वो कई प्रकार की यज्ञशालाएँ होती हैं वो कहाँ से उठी हुई होगी कहाँ से समान होगी वो किस आकार प्रकार वाली होगी वर्गाकार होगी चौकोर होगी कहाँ से किस अंश पर मुड़ी हुई होगी कौन सी क्रिया दूसरी क्रिया वाले स्थान से कितनी दूरी पर होगी किस दिशा में होगी कितने प्रकार के उसमें कुंड होंगे कौन से गोलाकार होंगे कौन से वर्तुलाकार होंगे वो सारा उसका निश्चित है उसकी परिधि कितनी होगी वो सब कुछ निश्चित है और उस निश्चित गणितीय यज्ञ विधि के आधार पर उस यज्ञशाला का निर्माण होता है केवल उस विशेष यज्ञ के लिए होता है आपने ऋषिदानंद के वेद भाष्य यजुर्वेद भाष्य यदि पढ़ा हो तो उसमें बार बार वो लिखते हैं यज्ञ के लिए यज्ञ का अर्थ यदि आप पढ़ेंगे तो यज्ञ के अर्थ में एक शब्द का प्रयोग ऋषि करते हैं शिल्प विद्या बहुत सारा अर्थ करते हैं यज्ञ का उसमें एक अर्थ किया है वो शिल्प विद्या है उस शिल्प विद्या के अंतर्गत क्या होता है निर्माण की विद्या जिसको आप आर्किटेक्ट कह सकते हैं उसके साथ में जो इंजीनियरिंग है वो दोनों चीज़ उसमें जुड़ी हुई होती हैं तो शिल्प विद्या तो वैसे बड़ा व्यापक विषय है लेकिन शिल्प विद्या के अंतर्गत ये दो चीज़ें भी आती है जिसको वर्तमान के अंदर वास्तुशास्त्र कह देते हैं वास्तुशास्त्र के नाम से आजकल तो आडंबर चलता है लेकिन एक वैदिक वास्तुशास्त्र भी है जिसमें ऐसे स्थानों के निर्माण की कला है वो निर्माण कैसे होगा घर का नगर का मकान का हर चीज़ का निर्माण किस विधि से होगा उसके लिए बहुत सारे शास्त्र हैं एक नाम आपने महाभारत के काल का सुना होगा मय महल के नाम से तो मय नाम का एक विद्वान था जिसने युधिष्ठिर के लिए एक महल का निर्माण किया था उसी ने लाक्षागृह का भी निर्माण किया हुआ था एक ऐसे भवन का निर्माण किया था जहां पर यह पता नहीं चलता था कि वो जल है कि कांच है तो वो एक बड़ी वास्तुविद्या थी हमारे पास में अभी ग्रंथ तो है व्यवहारिक रूप में वो विद्या नहीं है तो वो जो विद्या है उस यज्ञशाला के निर्माण में उसका बड़ा प्रयोग होता है तो वो सारी जो है एक प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट से जुड़ी हुई विद्या है वो और यज्ञ में उसका बहुत बड़ा काम है यानी यज्ञ केवल मात्र एक कर्मकांड नहीं है उस कर्मकांड के साथ में बड़ा विज्ञान जुड़ा हुआ है क्योंकि यज्ञशाला के निर्माण में उसका बड़ा प्रयोग है उस विद्या का तो यहां पर वो पंक्ति आई है एक संकेत मात्र है क्या कहा कि या यावतिर्वा यथावा कि उसमें अलग अलग यज्ञशालाओं का निर्माण होता है अलग अलग यज्ञकुंडों का निर्माण होता है यज्ञ कुंड जो होते हैं वो इष्टिका शब्द आया ईटों से बनते हैं और उन ईटों को लेकर अलग अलग कहीं पक्षियों के आकार के यज्ञकुंड होते हैं कहीं बाज पक्षी के आकार के हैं कहीं गरुड़ पक्षी के आकार के हैं तो उस प्रकार की वो ईटों को लेकर के वो यज्ञकुंड बनाए जाते हैं यज्ञकुंड सामान्य शब्द बोल दें तो अब जब अलग अलग आकार प्रकार के बनाने हैं तो उसका ईटों का जो नियोजन है वो कैसे होगा वो बड़ा एक वैज्ञानिक विधि है अब ईटों को लेकर बाज के आकार का कुंड बनाना हो तो का सामान्य काम नहीं है तो यहाँ पर ये लिखा कि या जितनी क्योंकि उसमें निश्चित ईंटें ही प्रयोग में आएंगी कितनी लगाते चले जाओ ऐसा नहीं होगा एक निश्चित क्रम होगा उसका तो कहा कि यावती जितनी उसमें लगती है यथा जिस प्रकार से लगती हैं वो सारा इष्टिका चयन बोलते हैं उसको ईंटों का चयन कैसे होगा जो आजकल के भाषा में चिनना बोल देते हैं तो वो जो इष्टिका का चयन है वो कैसे किया जाएगा वो सारी विधि उसको सिखा दी क्योंकि तो यज्ञ का मतलब केवल मात्र अग्निहोत्र सिखाने का मतलब नहीं है यानी उसको वो सब चीज़ सिखानी होगी जितने प्रकार के यज्ञ हैं वो सारा बताना होगा उसमें हर एक चीज़ जो भी लगनी है बननी है वो सारी विधि उसको आनी चाहिए इसलिए पहले के जो हम कहें कि वैदिक कर्मकांडी हैं वैदिक कर्मकांड को जानने वाले लोग हैं उसका मतलब ये नहीं कि केवल उनको मंत्र बोलना आता है और वो स्वाहा स्वाहा करते हैं वैदिक कर्मकांड को जानने वाले लोग का मतलब है उनको गणित विद्या भी आनी चाहिए उनको आर्किटेक्ट भी आना चाहिए उनको सारा वो निर्माण विधेय आनी चाहिए तब वो जाकर के कर्मकांड कराने में सक्षम है क्योंकि बनाना भी तो उनको ही है वो सारा जो स्थान है उनको आना चाहिए वर्तमान के जो कर्मकांडी है वो तो केवल मात्र मंत्र को बोलना और स्वाहा स्वाहा जानते हैं वो वैदिक कर्मकांड के लोग नहीं हैं तो ये यमाचार्य को वो चीज़ आती भी है वो ब्रह्मजानी है और वो उसका उपदेश भी कर रहे हैं तो उन्होंने सारी विद्या को सिखाया सारी यज्ञ की विद्या को सिखाया तो ये कोई सामान्य विद्या नहीं है बहुत बड़ी विद्या है ये तो यज्ञ के अंतर्गत होती है तो कहा कि वो सारी विद्या को सिखाया व्यष्टिका यावतिर्वा यथावा सच अपी तत्प्रत्यवदित यथोक्तम कह रहे जैसे था वैसे उसको सिखा दिया और क्या हुआ मृत्यु पर एव आह तुष्ट और ये बड़ी कठिन विद्या है सामान्य विद्या नहीं है ये लेकिन वो नचिकेता ने कहा कि तुष्ट नचिकेता ने उसको सीख लिया और सबसे बड़ी बात है एक तो होता है कि सीखने वाला संतुष्ट हो जाए और दूसरा है कि सिखाने वाला संतुष्ट हो जाए तो किसकी बड़ी संतुष्टि है सीखने वाले की संतुष्टि बड़ी नहीं होती है उसको तो थोड़ा आने पर भी वो संतुष्ट हो जाता है कि हाँ बहुत हो गया आज इतना बहुत सीख गया मैं अब बाकी अगले बार सीख लूंगा तो उसकी क्षमता थोड़ी होती है सीखने वाले की और वो थोड़े को बहुत सारा समझ लेता है कि थोड़ा आ गया मतलब बहुत आ गया श्लोक में भी कई बार आप भ्रमण करते हुए बोलते हैं कि यदा किंचित जो हम तदा सर्वज्ञो स्मृति कि जब मैं थोड़ा जानता था तो मुझे लगता था कि मैं सर्वज्ञ हूँ लेकिन जैसे जैसे मैं अधिक जानने लगा तो मुझे समझ में आया कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ ये हर विषय में ऐसा ही होता है तो इसलिए सिखाने वाले की संतुष्टि ज़्यादा होती है और वो यदि संतुष्ट हो गया कि हाँ इसने सीख लिया और वो प्रसन्न हो गया तो जानना चाहिए कि वास्तव में सीखने वाला बहुत योग्य है तभी तो वो संतुष्ट हो गया तो यहां कहा कि तुष्ट कि वो संतुष्ट हो गया तो वो कुशाग्र बुद्धि का था वो बुद्धिमान था इसलिए वो सारा विषय उसने सीख लिया वो सिखाने वाला जब प्रसन्न हो गया तो प्रसन्न होकर के अपनी तरफ से एक और वर दिया अगला श्लोक इसमें पूरा नहीं है उसके सार को समझ लें तो अगले श्लोक में अपनी तरफ से एक और आशीर्वचन दिया क्योंकि दो वर मांगे थे तीन वर मांगने के लिए कहा था तो कहा कि हे नचिकेता ये जो अग्नि है ये अग्नि आज से तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी और सिखाने वाला जब संतुष्ट होता है तो एक और विशेष बात होती है कि जितना पूछा गया हो उसे अतिरिक्त सिखाने की उसकी इच्छा होती है ऋषिदानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर एक बात कही है कहा कि जो छल कपट से पूछे तो उसको जानते हुए भी उत्तर नहीं देना चाहिए और जो व्यक्ति पात्र हो तो बिना पूछे भी उसको बहुत सारा बता देना चाहिए तो उसने केवल मात्र अग्नि के विषय में पूछा था वो तो बता ही दिया लेकिन उसकी पात्रता को देखकर और भी बहुत सारा बताया उसको क्योंकि वो पात्र है तो संसार में मुक्ति की ओर बढ़ने का यही क्रम है कि सबसे पहला क्रम कौन सा है कि जितना भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सुख है संसार में उसका परीक्षण कर लेना चाहिए कि जहां भी बुद्धि से ये दिखता है कि इसमें सुख है उसका परीक्षण कर लेना चाहिए हाँ इसका उपयोग कर लेते हैं लगता है कि नहीं इसमें है करें इसको भी देख लेते हैं फिर लगता है कि नहीं इसमें भी नहीं उसमें है तो उसको भी देख लेना चाहिए जब तक इस बात का निश्चय नहीं हो जाए कि नहीं किसी में नहीं है सब देख लिया सब एक जैसा ही है तब तक इस संसार का परीक्षण करते ही रहना चाहिए तो सबसे विशेष सुख क्या है वो स्वर्ग का है और जब वो स्वर्ग के विषय में ये बुद्धि बन जाए कि नहीं देख लिया इसमें भी कुछ नहीं है इसमें भी वैसा ही जैसे उसमें था पूरी संतुष्टि कहीं नहीं है तब तक आध्यात्म की ओर व्यक्ति की प्रवृत्ति कभी हो ही नहीं सकती है तो आध्यात्म की ओर प्रवृत्ति के लिए आवश्यक है कि लौकिक सुख से पूरी तरह से उसकी तृप्ति हो जानी चाहिए और लौकिक सुख से उसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि लौकिक सुख कभी भी संतुष्टि का कारण हो नहीं सकता है इसलिए बार बार आप एक बात सुनते होंगे कि संसार का परीक्षण करते रहना चाहिए तो परीक्षण यही होता है कि सुख इसमें है कि नहीं है वो शब्द प्रमाण से समझ में आता हो तो बहुत अच्छी बात है समय बच जाएगा जीवन बच जाएंगे नहीं आता हो तो अनुमान से प्रयोग कर लेना चाहिए उसमें भी कभी काफ़ी समय सामर्थ्य और जीवन बच जाएंगे और नहीं आए तो फिर प्रत्यक्ष करते रहना चाहिए कब तक जब तक ये बात समझ में नहीं आ जाए कि संसार में सुख नहीं है जब तक वो दिख रहा है आध्यात्म में तीव्रता के साथ में उन्नति कभी नहीं होने वाली है इसलिए यह उपदेश यहाँ पर दिया गया और एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया, क्योंकि आगे जो विषय प्रारंभ होने वाला है ब्रह्म विद्या का होने वाला है आगे चल के बात आएगी कि भाई स्वर्ग मिल तो गया स्वर्ग तो कहीं नहीं जाएगा हम ही तो नहीं रहेंगे फिर इतनी मेहनत करके वो भोग लिया वो स्वर्ग मिला और फिर आगे मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता है क्योंकि जितना पुरुषार्थ करके मिला है उसका समय तो सीमित है भोग्य पदार्थ तो कहीं नहीं जा रहा है लेकिन वो जो भोगता है वही तो चला जाएगा फिर इससे प्रयोजन क्या सिद्ध होगा तो एक सीमित समय के लिए अत्याधिक पुरुषार्थ करने के बाद में चीज मिली है और वो भी सीमित समय के लिए बहुत सीमित समय के लिए और भोगता रहेगा नहीं वो चला जाएगा समाप्त हो जाएगा तो फिर वहाँ पर एक चिंतन मिलता है यहाँ से कि जब ये स्वर्ग रहेगा ही नहीं भोगता रहेगा ही नहीं फिर ऐसे सुख से मिलना क्या है इसलिए स्वर्ग का सुख है लेकिन स्वर्ग के सुख से पूर्ण तृप्ति नहीं है पूर्ण शांति नहीं है पूर्ण संतुष्टि नहीं है इस बात को समझना है और इस बात के लिए ही ये संसार एक प्रयोगशाला की तरह है जहाँ पर प्रयोग की बुद्धि बना करके व्यक्ति को प्रयोग करते रहना है लक्ष्य सामने रखना है परीक्षण को सामने रखना है लक्ष्य क्या सामने रखना है कि संसार में सुख है कि नहीं है इस बुद्धि से परीक्षण करते रहेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आता रहेगा वो कुछ समय के बाद फिर बुद्धि वैसी हो जाएगी कभी प्रतीत होगा कि बहुत सुख है जब बहुत दुख आएगा तो लगेगा नहीं दुख है सुख नहीं है दुख है तो इस उद्देश्य से यहाँ पर सबसे पहले जो स्वर्ग को दिलाने वाली अग्नि है उस अग्नि का उपदेश किया गया और उसके बाद में अगले श्लोक आएंगे जहाँ पर ब्रह्म विद्या की चर्चाएं होंगी कल से फिर उस विषय को लेंगे आज यहाँ विराम देते हैं ओ